कहानियों के वाचन का blog coffee house U R L कथा डैश पाठ dot blog spot dot in Vimlesh Tripathi की कहानी पिता विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था the child is father of man तेईस साल के उस युवक की बातें एक साथ सैकड़ों बर्छे की तरह उनके सीने में चुप गई थीं। वे इतने असंयत कभी नहीं हुए थे जैसे सिनेमा की रील घूमकर अचानक बहुत पहले के समय में चली गई हो समय का सीना चीरते हुए कि समय की सिल्ली पर कोई बेदर्द आरा मशीन चला दी गई हो स्मृतियों के बुरादे झरझर कर निकल रहे थे समय पटरियों की तरह कई भागों में कटकर सपाट पड़ा हुआ था युवक के शब्द बार बार उनके जहन में गूंज रहे थे उन्होंने सिगरेट सुलगाई और ताबड़तोड़ कई कई कश खींच गए उन्हें लगा कि एक पर एक कई कश उनके दिमागी तंतुओं को निष्क्रिय कर देंगे लेकिन गूंज थी कि बार बार कानों में धाए धाए बजती चली जाती थी घर मध्यम अंधेरे में डूबा हुआ था पत्नी शयन कक्ष में बेसुध पड़ी होगी उन्होंने सोचा पता नहीं कितने समय से उसके घुटनों में असह्य दर्द था उमना कौटिल टैंक की दो काली और चौकोर गोलियां उन्होंने अपने हाथों से खिलाई थीं और नींद के लिए एक मटर जैसी गोली एल्जोलम पॉइंट टू फाइव भी दे दी थी साथ में असंयत की अवस्था में वे कई बार बेडरूम का चक्कर लगा चुके थे हर बार पत्नी का मुंह बेहोशी में खुला हुआ दिखा था और सांस की घरघराहट के बीच भी वे कई बार उसके चेहरे पर झुक से गए थे वे उसके सामने चीखना चाहते थे अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोना चाहते थे पूछना चाहता था उनका संपूर्ण पुराना शरीर कि क्यों उनकी परवरिश में कहां गलती हुई किस अपराध की सजा है ये जो देकर चला गया वो तेईस साल का लड़का लेकिन हर बार वे किसी पराजित योद्धा की तरह लौट जाते थे और एक के बाद एक ये चौथी पांचवी सिगरेट थी जो होठों से होती हुई मेज के कोने पर पड़ी निशब्द सुलग रही थी कई बार बदहवासी में उन्होंने फ्रिज का दरवाजा भी खोला था रोजमर्रा की चीजों के बीच वोदका की आधी खाली बोतल बार बार आंखों में चुभी जा रही थी लेकिन ज्यो ही उसे उठाने के लिए उनके हाथ आगे बढ़ते थे डॉक्टर अरूप साहू की हिदायत कान में किसी जरूरी सूचना की तरह बजने लगती थी कि एक बूंद शराब भी आपको मौत की अंधेरी खाई में ढकेल सकती है धड़ धड़ की आवाज से खुलती बंद होती फ्रिज और डॉक्टर साहू की हिदायत के बीच के किसी पतले धागे पर वे सवार हो जाते कई कई बार सचमुच या फिर आभासी दुनिया के बीच तेईस साल का वो लड़का कितना कुछ कह गया था वो उनके आज तक के अस्तित्व को किसी गंदे कीड़े की तरह मसलता रौनता कहते हुए उसके चेहरे पर शर्म और अपराध बोध की छाया तक न थी और एक पिता का आज तक का देखा और समझा हुआ समय बेबसी की अदृश्य आंच पर धीमे धीमे राख हो गया था समय ऐसे ही राख में बदल जाता है शरीर और आत्मा की तरह एक बार उन्होंने दीवार पर लटक रही अपने पिता की तस्वीर को हताश पराजित नजरों से देखा उस हल्की मुस्कुराती तस्वीर के पार पीड़ा के पता नहीं कितने अदृश्य क्षण झीम झीम जल रहे थे पिता समय की लंबी पगडंडियों के पार तुम्हारी पीठ पर लदी हुई एक बच्चे की देह तुम्हारी ही देह पर लौटकर विकसित हुई तुम्हारी ही छाया के नीचे पिता क्या माफ कर दिया तुमने उस बच्चे को उसे जिसे तेईस साल का एक युवक कटघरे में खड़ा करके निकल गया है क्या ये तुम ही आए थे मुझसे बदला लेने क्या इसे महज बदला कह देना ठीक होगा पिता ऐसे ही राख होता है समय और मानुष के साथ मानुष होने की गंध मेरा निर्णय सच था पिता तुम्हारे पितरों की करोड़ों वर्षों की मान्यताओं से अलग होकर भी मेरा सच वो एक मेरा सच जिसकी आंच में तुम्हारा देखा और समझा हुआ असंख्य वर्षों का समय मोम की तरह पिघल चुका था पानी बनकर जमीन में कहीं गहरे धंस गया था और वो निर्णय बेहोश सी पड़ी महज उस औरत के कारण नहीं था बल्कि एक विडंबना जिसे मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती थी और मैं एक ही साथ इतिहास पुराण अपने पितरों के साथ तुमसे भी लड़ रहा था सिर्फ उस औरत के लिए नहीं उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें आज तक आदमी नहीं समझ गया क्या इसे नहीं समझ सके तुम उफ पिता उसके बाद तुम न बोले मैं तुम्हारी देह की खाक से और जलकर छावर हो गई अस्थियों से चीख चीख कर पूछता रहा माफ किया पिता तुमने मुझे तुम न बोले थे रुई की तरह सफेद तुम्हारी मूछों के पीछे छिपी जीभ न बोली थी राख और हड्डियां क्या बोलती उफ पिता उसके बाद तुम न बोले और ये मेरा अपना खून क्या बोल गया वो उसके जन्म का कारण सिर्फ मजा और कुछ नहीं आह जैसे सदियों से महत्वपूर्ण हो रही विश्वास की कोई लकीर मिटा दी गई हो उनका बूढ़ा मन अतीत के पार से लौट आया था तस्वीर वैसे ही लटक रही थी दीवार पर माला के नकली फूलों पर धूल की परतें थीं मटमैली दीवार के सपाट समतल के बीच मुस्कुराती पीड़ा की आंच में झीम झीम जलती मध्यम अंधेरे की देह काली और खौफनाक रात की शक्ल में ढल गई थी वोदका की आधी बोतल अब टेबल पर जिंदा खड़ी थी शीशे के झकझक सफेद गिलास का तरल सांसों के बुलबुले छोड़ रहा था सिगरेट अब भी सुलग रहा था कि समय के पृष्ठ पर सियाही के सैकड़ों निशान सुलग रहे थे साथ साथ उस अंधेरी समय के बीच गिलास का पूरा जिंदा तरल कई कई बार उनकी देह में उतरा था वोदका की बोतल समय के किसी खास टुकड़े की तरह एकदम खाली थी खाली और अपनी पीड़ा में एकदम बेपरवाह बेचैनी के एक झोंके को संभालते हुए जब वो उठे तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे लड़खड़ाते कदमों की आहट पाकर बीच में वर्षों पहले कहीं छूट गई लोरी की एक बंदिश अभी अभी उनकी जीप पर आकर बैठ गई थी समय की किसी पगडंडी से चलकर सो जा सो जा सो जा मेरे मन और उसके बाद खाए खाए की एक रतवारू खांसी लोरी की बंदिश के साथ वो लड़खड़ाते कदमों से उस तेईस साल के लड़के के कमरे में पहुंचे कमरे में सन्नाटे की साए साए गूंज थी और अंधेरे में भी बड़े फ्रेम की एक तस्वीर के सामने वो मुखातिब थे कितनी रातें कितनी रातें ऐसे जाग कर बीती हैं बच्चे नींद और जागरण के बीच तुम्हारी वो किलकारी और चिचियाहट बेतरह और तुमने कहा कि मजे के लिए उनका मन कसैला हो आया तस्वीर में कई चेहरे साथ थे तेईस साल का वो लड़का तस्वीर में अधनंगा था लड़खड़ाते कदमों वाला वो बूढ़ा तस्वीर में एक जवान हंसी के साथ एकदम जिंदा लगता था बच्चू तुम्हारी औकात क्या है मैंने अपने इन हाथों से तुम्हारा गू साफ किया है हंसी का एक कमजोर और बूढ़ा लम्हा चेहरे पर डोल गया था और उसके पेशतर हिकारत के सैकड़ों सुअर एक साथ उनकी छाती पर दौड़ गए थे और खाए खाए के बीच लूरी का वो खुरदुरा टुकड़ा सोचा सूझा मेरे मन उस कई शक्लों वाली तस्वीर को उन्होंने एक लाश की तरह उठाया कांपते हाथ और लड़खड़ाते कदमों की आहट के बीच उसे पिता की पुरानी तस्वीर के साथ लटका दिया उनकी आंखों से एक सूखती नदी की भाप छूट रही थी बाद इसके एक तेज खांसी उभरी थी और उसने उन्हें जोर से अंधेरे फर्श पर पटक दिया था अचेत शायद उनकी आत्मा दो साल के एक शिशु और तेईस साल के एक युवक के पीछे दौड़ कर गई थी युवक बादलों की कई परतों के बीच हवाई जहाज में बैठा किसी दूसरे देश को जा रहा था बादलों की कई कई परतों के पार स्वर्ग जैसी किन्हीं जगहों के बीच दो साल का एक शिशु के तेईस साल का एक युवक जहाज के भीतर बैठा हुआ और उसका लगातार पीछा करती एक पिता की आत्मा और पता नहीं कितने समय तक या कितनी सदी तक या कितनी सहस्त्राब्दी तक ये पीछा करने वाला खेल लगातार चलता रहा पता नहीं शायद विमलेश त्रिपाठी की कहानी पिता कहानियों के वाचन का blog Coffeehouse. URL katha partblogspotin